और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसे उसके रब की आयात के जरिए नसीहत की जाए फिर वो उनसे मुंह फेर ले और जो आमाल उसके हाथों ने आगे भेजे हैं उसे भूल जाए बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इस कुरआन को ना समझ सकें और उनके कानों में बोझ डाल दिया है और अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तो वो हरगिज कभी भी हिदायत नहीं पाएंगे